ओम का उच्चारण करेंगे ओ... जिज्ञासा समाधान में आप में से कईयों ने वैराग्य के बारे में पूछा है यद्यपि पीछे इस पे चर्चा हुई थी यदि उसके बाद भी अभी किन्हीं का प्रश्न बचा हो वैराग्य के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो पूछ सकते हैं नहीं तो उसका स्थूल रूप तो सामान्यतया जैसा समझा जाता है उसका कारण वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है कब होता है इत्यादि विषय तो आ चुका है आप लोगों के सामने सूचनाओं दर्शन में दो वैराग्य बताए गए एक अपर वैराग्य और दूसरा पर वैराग्य जो स्थूल वैराग्य होता है वो अपर वैराग्य कहलाता है और जो सूक्ष्म आंतरिक वैराग्य होता है वो पर वैराग्य कहलाता है बाह्य विषयों से जो वैराग्य होता है चाहे वो इहलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो सांसारिक सुखों से जो वैराग्य होता है वो अपर वैराग्य कहलाता है और जो आंतरिक सात्विक सुख से वैराग्य होता है वो पर वैराग्य कहलाता है अपर वैराग्य होता है तो संप्रज्ञात समाधि होती है लेकिन नहीं संप्रज्ञात समाधि अपर वैराग्य होता है तो संप्रज्ञात समाधि होती है और संप्रज्ञात समाधि में भी योगी को सुख मिलता है वो सुख बाह्य इंद्रिय जन्य नहीं होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि किसी बाह्य विषय से वो सुख नहीं आता है और न ही बाह्य विषय की स्मृति जन्य होता है सुख हम साक्षात भी लेते हैं और जिसका सुख हमने लिया है या हमारे हमने सुन रखा है उसके चिंतन से भी हम सुख ले लेते हैं स्मृति से उसको याद करके भी विषय साक्षात नहीं है लेकिन फिर भी हम सुख ले लेते हैं भोजन हमने अच्छा किया है हमें पता है स्वादिष्ट भोजन है करने के बाद भी हम उसका सुख ले सकते हैं स्मृति करके उस दिन बहुत अच्छा भोजन किया स्वादिष्ट और हमें पता हो कि भोजन बनने वाला है अच्छा स्वादिष्ट अभी खाया नहीं है लेकिन स्मृति से भी सुख ले सकते हैं तो विषयों का जो सुख इंद्रियार्थ सन्निकट से प्राप्त होता है वो न होते हुए भी भूतकालिक या भविष्य काल में भविष्य की कल्पना या भूत की स्मृति दोनों से भी हम सांसारिक सुखों को लेते रहता है यही बात दुख के साथ भी लागू होती है तो सांसारिक सुख चाहे साक्षात हो चाहे परोक्ष रूप से मानसिक हो उनको ना लेना उनसे वितृष्ट ना होना उनमें दुख देखना उनमें हानि देखना उनको अनावश्यक समझना अनावश्यक समझने से उस ओर प्रवृत्त ना होना ये जो स्थिति होती है ये अपर वैराग्य की कहलाती है लेकिन इस अपर वैराग्य के बाद भी जब संप्रज्ञात समाधि लगती है उसमें भी सुख आता है वो सुख स्मृतिजन्य नहीं होता है बाह्य विषयों का भी सुख नहीं होता है और बाह्य विषयों की स्मृतिजन्य भी नहीं होता है वो सब तो छूट गए होते हैं लेकिन उनके छूट जाने पर तामसिकता और राजसिकता के न्यून हो जाने पर जब सात्विकता बढ़ती है एकाग्रता बढ़ती है तो उस समय सत्वगुण का सुख आता है और वो सुख बाह्य सुखों से अधिक अच्छा होता है अधिक होता है अलग तरह का होता है उस सुख के लिए किसी बाह्य विषय की साधन की आवश्यकता नहीं होती है किसी पैसे को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है वो मानसिक सुख होता है मन में सत्व गुण जब बढ़ जाता है तो हमें सुख अनुभव होता है जैसा बहुत से ध्यान करने वाले अनुभव करते रहते हैं जिस दिन अच्छी एकाग्रता होती है चंचलता कम होती है तो अच्छी अनुभूति होती है बड़ी शांति मिली सुख मिला ये जो भाव आता है ये जो अनुभूति होती है वो अनेक कारणों से होती है एक तो सामान्य अवस्था में व्यक्ति बहुत बाह्य वृत्तियों में रहता है परेशान रहता है क्षुब्ध रहता है चूंकि ध्यान काल में वो विचलन चंचलता समाप्त तो होती है कम होती है इसलिए भी दुख निवृत्ति जन्य सुख अनुभव होता है थोड़ी देर के लिए भी अगर वो घर परिवार के तनावों से कार्यालय मित्रों के साथ हुए तनाव झगड़े समस्याओं से दूर हो जाता है तो भी वो सुख का अनुभव करता है ये दुख के हटने पे होने वाला सुख है और सात्विकता बढ़ने पे थोड़ी थोड़ा सुख सकारात्मक वो भी आता है वहां पर वो भी हो सकता है लेकिन समाधि में उससे अधिक वहां मिलता है सुख बाह्य वृत्तियां रुक जाती हैं इसलिए उस तरह का कोई दुख नहीं होता उसको बाह्य कारणों से कोई दुख नहीं होता है और आंतरिक भी वृत्तियों को उसने रोक लिया है तो मानसिक रूप से भी उस दुख को नहीं आने देता है और सात्विकता बढ़ जाती है बहुत वो सुख संप्रचात समाधि में लेता रहता है होता ही है संप्रचार समाधि में तो बाह्य विषयों का सुख और उनकी स्मृति जन्य सुख को तो वो छोड़ चुका था उसने नियंत्रित कर लिया लेकिन वो किस आधार पे छोड़ पाया इस आंतरिक सुख के आधार पर छोड़ पाया सात्विक सुख के आधार पर उस सुख को छोड़ पाया संप्रज्ञात समाधि में वो सुख लेना समाधि का सुख लेना वो हानिकारक नहीं है वो ठीक है वहां तक उस सुख के प्रभाव से ही वो सांसारिक सुखों को छोड़ पाता है नहीं तो सांसारिक सुख की इच्छा कर जाएगी उसमें तो वहां तक वो सुख सात्विक सुख सहायक होता है लेकिन उसके बाद में इस सात्विक सुख में भी उसे बंधन दिखाई देता है उसे समझ में आता है ये प्रकृतिजन्य है और इस सुख को लेने के लिए मुझे शरीर में रहना होगा प्रकृति के बंधन में रहना होगा मन का सहयोग आवश्यक है बिना मन के ये सात्विक सुख भी नहीं आ सकता मैं इससे पृथक हूं विशेष प्रयास करके विशेष स्थिति बना के मैं इस सत्व गुण को सत्व के सुख को ले पा रहा हूं यदि वो स्थिति बिगड़ती है तो ये सात्विक सुख भी चला जाए और चूंकि समाधि में भी हर समय तो रह नहीं सकता उसको व्यवहार भी करना होता है तो कुछ निचले स्तर पे तो आएगा ही वो तो उसमें भी सुख में भी न्यूनता होगी जो ऊंचा सुख बहुत ऊंची एकाग्रता में पूर्ण एकाग्रता में आ रहा था उसमें न्यूनता आएगी ही क्योंकि वो व्यवहार के लिए चलेगा फिरेगा कुछ देखेगा बात करेगा कार्य करेगा कुछ न कुछ तो करेगा ही वो उतना उतना उसका स्तर सुख का स्तर कम हो जाएगा यद्यपि इन कार्यों को करते हुए भी अंदर एक एकाग्रता बनाए रखी जा सकती है बनती है लेकिन वैसी नहीं बनती जितनी की सब कुछ छोड़ के आंख बंद करके बैठते हैं वैसी नहीं बनती स्तर उतना नहीं रहता तो उसे यह अनुभूति होती है कि ये समाधि का सुख भी त्याज्य है ये वो चीज नहीं है जिसे मैं चाहता हूं <clears throat> कोई भी आत्मा चाहती है ये वो नहीं है तो तब उसे इससे भी वैराग्य होता है इसे ही गुण वैतृष्ण्य कहा है ये आंतरिक होता है और ये जब हो जाता है तो ये पर वैराग्य कहलाता है और पर वैराग्य होने पे परमात्मा का साक्षात्कार होता है परमात्मा का आनंद मिलने लगता है तो ये दो तरह का अपर वैराग्य और पर वैराग्य ये बताया योग दर्शन में बाकी उससे नीचे का भी अपर वैराग्य से नीचे भी आंशिक वैराग्य बहुत सी चीजों में होता ही रहता है अपर वैराग्य भी बहुत ऊंचा वैराग्य है लेकिन उससे पहले भी वर्षों पहले से कोई भी साधक कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत से सांसारिक सुखों को धीरे धीरे करके छोड़ता जाता है उसकी इच्छा उन भोगों के लिए नहीं होती ये भी उतने उतने अंश में वैराग्य है मानसिक रूप से न छोड़ते हुए भी कम से कम बाह्य वाणी के स्तर पर या शारीरिक स्तर पर तो वो उन सुखों को छोड़ता है ये भी एक वैराग्य है ये भी वैराग्य का एक स्तर है और भी इससे नीचे वो पहले जितना इन विषय भोगों को भोगता था उतना नहीं भोगता है उससे उसने कम कर दिया है आधा कर दिया है पिचहत्तर प्रतिशत कर दिया है पच्चीस प्रतिशत कर दिया है कम करना प्रारंभ कर दिया है पांच प्रतिशत किया दस किया बीस किया पच्चीस किया आधा कर दिया पौना कर दिया नब्बे प्रतिशत कम कर दिया पिचानवे प्रतिशत कम कर दिया ये विभिन्न स्तर वहां भी देखे जा सकते हैं उतने उतने अंश में जहां जहां भी वो थोड़ा विषयों को छोड़ रहा है उतने उतने अंश में उसे वैराग्य मान सकते हैं अनेक बार साधक ये भी सोचते हैं कि बाहर से तो हमने छोड़ दिया लेकिन मन से अभी नहीं छोड़ पाए तभी वैराग्य नहीं आया ये ठीक है ऊंचे स्तर का वैराग्य नहीं आया है लेकिन ये भी एक वैराग्य है कि वो कम से कम इतना तो नियंत्रण कर पाता है मन का नियंत्रण कठिन है शरीर की अपेक्षा वाणी का नियंत्रण कठिन है और वाणी की अपेक्षा मन का नियंत्रण कठिन है बहुत कठिन है तो केवल मानसिक स्तर पर ही हम अपने को क्यों देखें हमने शारीरिक स्तर पर भी बहुत संयम किया है दिनचर्या हम ठीक कर रहे हैं आलस से प्रमाद से हटे हैं तपस्या कर रहे हैं सहन कर रहे हैं धर्माचरण को करते हुए जो कष्ट आ रहे हैं उसको सहन कर रहे हैं गलत बातों में जो सहज प्रवृत्ति हो जाती है उससे बच रहे हैं किसी से भी हिंसा से बच रहे हैं झूठ से बच रहे हैं सबसे ये उतना उतना वैराग्य माना जाएगा उतना उतना वैराग्य है सबसे झूठ बोलता है किसी एक व्यक्ति से झूठ बोलना उसने बंद कर दिया है तब इससे तो झूठ नहीं बोलूंगा औरों से बोल रहा है अभी तो उतने अंश में तो ठीक है हालांकि वो कम है लेकिन वो भी माना जाएगा कि उसने कुछ नियंत्रण किया है उतना उतना उस विषय का वैराग्य उसका माना जाना चाहिए तो अपर वैराग्य के नीचे भी वैराग्य के बहुत स्तर हैं सैकड़ों हजारों कह लीजिए आप छोटे छोटे छोटे छोटे स्तर बहुत हैं अलग अलग विषयों के और उनके मात्रा के ये वैराग्य कहलाता है पहले कोई विषय मन में आ गया तो एक घंटा दो घंटा दस घंटे दिन भर महीने भर दिमाग में घूमता रहेगा एक है कि किसी को आ गया और उसने पहले महीने भर था तो पंद्रह दिन ही रहता है या एक दिन ही रहता है या दो घंटे ही रहता है एक घंटे ही रहता है ये भी वैराग्य है ये सफलता मानी जाती है इसको असफलता के रूप में देख करके निराश नहीं होना चाहिए कि ये विचार तो मेरे को अब भी आ जाता है ये देखें कि पहले कितना आता था और आज कितना आता है यदि कम आता है तो दुखी होने की बात नहीं है निराश होने की बात नहीं है कम हुआ है वो ये वैराग्य का लक्षण है आंशिक वैराग्य का उतना उतना वैराग्य हो रहा है ये समझना चाहिए ऐसे अपर वैराग्य और पर वैराग्य ये वैराग्य भी हमेशा नहीं रहते कभी जिस स्तर पर हम वैराग्य में हैं उससे नीचे भी आ जाते हैं कभी बहुत ऊंचे चले जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं ऊंचा नीचा होता रहता है उससे भी दुखी होने की बात नहीं है इतनी हमारी प्रगति अगर है पहले से हम अधिक जा रहे हैं तो वो संतोष की बात होनी चाहिए क्योंकि ये वैराग्य एकदम नहीं आ जाता है एक लंबी प्रक्रिया है जो पूर्व जन्म के संस्कारी हैं बहुत अधिक पहले से ही वैराग्य से युक्त है उनमें यहां अचानक वैराग्य दिखेगा होता है वो हो सकता है लेकिन अधिकांश में ये नहीं होगा अधिकांश को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है चूंकि विवेक एकदम नहीं होता तत्काल नहीं हो जाता इसलिए वैराग्य भी एकदम नहीं होता चूंकि विवेक सब विषयों के प्रति एक साथ नहीं होता इसलिए वैराग्य भी सब विषयों के प्रति एक साथ नहीं होता थोड़ा थोड़ा होता जाता है थोड़ा हमने जाना हमारे जानने और समझने की सीमा थोड़ी होती है थोड़ा थोड़ा जानते हैं आज जाना फिर हट जाएगा क्योंकि तो संस्कारों का वेग भी है पिछली जो अनुभूतियां हैं विपरीत भोग के संस्कार हैं वो भी उभरेंगे वो संघर्ष चलेगा लंबे समय तक इधर हम नया संस्कार डाल रहे हैं उधर वो पुराने संस्कार भी उसका प्रतिरोध करेंगे कभी वो प्रबल हो जाएंगे कभी हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल हो जाएगा इसलिए कभी वैराग्य की स्थिति लगेगी कभी लगेगा वैराग्य है ही नहीं चला गया ये सब चलता रहेगा ऊंच नीच दोनों के बल एक संघर्ष अंदर पुराने संस्कारों का क्षय होना ये चलता रहेगा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा और दृढ़ होता जाएगा बार बार प्रमाणित करने पे बार बार उसमें दुख देखने से बार बार अनुभव करने से अपने अंदर और दूसरों में दूसरों में ही परिणाम देख रहा है जो अपने में देख रहा था जो हानि अपने में देख रहा है वो दूसरों में भी देख रहा है ऐसे करके पुष्टि होती जाती है होती जाती है होती जाती है देखने लगता है दुनिया का हर प्राणी जो भी इधर जाएगा उसको ये दुख होंगे एक सबका सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत उसके मन में बैठ जाता है कि तो सब पे लागू होता है कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो इससे बच सके दुख तो होगा उसको यदि इधर जाता है तो विषय भोगों में जाता है तो तो ऐसे वो अपने ज्ञान को परिपक्व करता जाता है बार बार देखता जाता है और उसका एक संस्कार पड़ता जाता है और वो ही बाद में पूर्व के संस्कारों को क्षीण करता जाता है और तब फिर वो स्थिरता को प्राप्त होता है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती जाती है ज्ञान की गहराई के साथ साथ वैराग्य की गहराई भी बढ़ती जाती है किसी भी वस्तु में दुख देखते हैं तो पहले मोटा मोटा दुख दिखाई देता है सूक्ष्म दुख दिखाई नहीं देगा सूक्ष्म दुख देखा फिर उसको दुख को निवारण का भी प्रयास करते हैं भौतिक उपायों से तो हट भी जाते हैं स्थूल दुख विषय भोगों के स्थूल दुख स्थूल उपायों से हट जाते हैं यदि अधिक भोजन के कारण से पेट में दर्द हो रहा है दुख हुआ अधिक देर तक दूरदर्शन देखने से आंखों में दर्द हुआ सिर में दर्द हुआ और उसने समझ लिया तो अधिक देखना बंद कर देगा तो जो स्थूल दुख है ये एक स्थूल दुख का उदाहरण है इन स्थूल दुखों को व्यक्ति स्थूल उपायों से दूर कर सकता है होते हैं उचित उपयोग के द्वारा ज्ञान के बढ़ने से साधनों को अच्छा बनाने से इन दुखों को कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं लेकिन जो सूक्ष्म दुख है जिन्हें योग दर्शन की भाषा में परिणाम ताप संस्कार और भी ऊपर जाए तो गुणवृत्ति विरोध ये जो दुख है ये स्थूल उपायों से नहीं समाप्त होते हैं दूर नहीं हो पाते बने रहते हैं तो जब वो स्थूल दुखों को भी पर्याप्त दूर कर लेता है तो छोटे सूक्ष्म दुख दिखाई देने लगते हैं इन दुखों को कैसे दूर करें उसके लिए वो विचार का विषय बन जाता है तो दुख जैसे जैसे अनुभव करता जाता है वैसे उनको प्रयोग करता हुआ उपायों को अपनाता जाता है सुन करके अनुभव करके और उससे भी उपाय दे, देखता जाता है करता जाता है तो उनसे भी बच जाता है और अंत में उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जन्म लिया है तो ये दुख कुछ दुख तो होंगे ही उससे बच नहीं सकता हूं मैं कुछ भी कर दू कम कर सकता हूं कुछ देर के लिए रोक सकता हूं लेकिन पूरा नहीं रोक सकता हूं ये जब उसके मन में बैठ जाती है तो क्या विचार आएगा कि जन्म ही न हो ऐसा मुझे करना है उसका उपाय सोचता है उसके लिए प्रयास करता है तब फिर ये ऊपर के वैराग्य और आंतरिक वैराग्य बनने लग जाते हैं लेकिन सबके लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए अनुभूति के लिए लंबा समय चाहिए और उस तरह की बुद्धि होनी चाहिए जो देखेगा जागरूकता से उसको विवेक होगा ही धीरे धीरे होता जाएगा और वैराग्य भी उसमें घटता चला जाएगा तो एक तो ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है एक स्थूल रूप से जान करके हम उन चीजों को हटा देते हैं प्रयास से बल से अपने को नियंत्रित रखते हैं उस नियंत्रण में कष्ट होता है जो स्थूल नियंत्रण होता है उसमें प्रारंभ में कष्ट होता है बाद में कुछ कष्ट कम हो जाता है लेकिन फिर भी बार बार प्रवृत्ति हो सकती होगा ज्ञान से जो वैराग्य होता है उसमें कष्ट नहीं होता है उसमें प्रसन्नता होती है ऐसी प्रसन्नता जैसे कि दुख के हट जाने से होती है कोई छीनना नहीं पड़ता उससे हटाना नहीं पड़ता उससे वो स्वयं हट जाता है वो कष्ट रहित प्रक्रिया है ज्ञान हो गया तो उसका छूटना कष्ट रहित है प्रसन्नता है उसमें उसे संतोष होता है कि ये छूट गया है मेरा मैं छोड़ रहा हूं इसको और बाकी जो होता है जो हम प्रयास से उन विषयों को अपने से हटाते हैं वहां कष्ट होता है वहां संघर्ष होता है और बार बार उस ओर प्रवृत्ति होती है विभिन्न परिस्थितियों में उसमें पतन देखा जाता है ये दोनों में भिन्नता होती है लेकिन जो बलात् भी कर रहा है बलपूर्वक भी कर रहा है उसमें भी कुछ स्तर का वैराग्य तो है नहीं तो वो प्रयास नहीं करता इतना भी अपने को संयमित रखने का प्रयास नहीं करता उतना वैराग्य मानना होगा उसमें भी तो ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति होती है तो सरल सा सूत्र है वैसे तो लेकिन ज्ञान प्राप्त करना ये सबसे कठिन बात है उसको अनुभव में ले आना स्वीकार कर लेना ये ही सबसे कठिन बात है ये जिसका अच्छा हो गया तो आगे तो सरलता है किन्हीं को और पूछना हो तो श्रुति दे अगर सुख होता है उसको कहा गया है कि वो इंद्रिया के सन्निकर्ष जन्य नहीं है और स्मृति जन्य नहीं है ज्ञानेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य नहीं है और स्मृति जन्य भी नहीं है तजन्य ज्ञानेन्द्रिय जन्य सुख की स्मृति जन्य नहीं है कौन सी स्मृति जो ज्ञानेन्द्रिय लौकिक सुख हमने लिए हैं उसकी स्मृति जन्य भी नहीं है यदि उसकी स्मृति भी आ रही है उसकी स्मृति से भी सुख ले रहा है तो ये अपर वैराग्य नहीं कहलाएगा तो मतलब वो मन में सात्विकता के बढ़ने से जो होता है जो संप्रज्ञात समाधि जन्य होता है वो इससे भिन्न है क्योंकि ऐसा ना समझ लिया जाए कि बाहर से तो विषयों को हमने रोक लिया है प्रवृत्ति नहीं होती है हमारी लेकिन मानसिक रूप से उन विषयों में हम सुख ले रहे हैं तो इसे अपर वैराग्य नहीं कहा जा सकता मानसिक रूप से भी यानी स्मृति से भी पिछले विषय भोगों की स्मृति से जो हम सुख ले लेते हैं भौतिक सुखों की स्मृति से जो सुख ले लेते हैं वो भी विषयों का सुख ही कहलाएगा अंतर है साक्षात विषय नहीं है लेकिन स्मृति तो है उसकी और उसे हम सुख ले रहे हैं उन विषयों की स्मृति ये एक अलग बात है और उन विषयों की स्मृति से सुख लेना ये एक दूसरी बात है दोनों में अंतर है उन विषयों का केवल स्मरण इस रूप में करना कि ये देखो ये गलत है इसमें दुख है उसको दुख रूप में स्मरण यदि कर रहा है तो ये गलत नहीं है ये बाधक नहीं है वो तो ठीक है वो तो देखेगा ही वो उसका ज्ञान तो रहेगा ही उन विषयों की स्मृति सुख के रूप में करना उनका स्मरण करके सुख लेना उनका स्मरण आने पे सुख भी आने लग जाना ये अगर है तो ये अपर वैराग्य नहीं है लेकिन यदि उन विषयों की स्मृति मात्रा आती है दुख के रूप में इत्याचि के रूप में हे के रूप में छोड़ने के रूप में तो इसे वैराग्य कह सकते हैं केवल स्मृति आना मात्र नहीं सुख के साथ में आना ये अपर वैराग्य से पहले पहले होता है अपर वैराग्य जब दृढ़ हो गया है अपर वैराग्य भी ऊंचा नीचा होता है टूटता है तो वापस ये भी स्थिति आएगी लेकिन जब अपर वैराग्य की स्थिति में जाएगा तो ये नहीं होगा लेकिन जब जिसका दृढ़ हो गया है अब जो दूसरा सुख की बात कर रहा था वो इन इस तरह का नहीं है वो मानसिक सुख है मन में जो सात्विक भाव उभरता है एकाग्रता होती है उसका सुख है वो अलग सुख है हम्म। चित्त के चित्त में सात्विक स्थिति के उभरने से वो सुख है और चित्त तो यू द्रव्यात्मक रूप से देखे तो सत्वरस का ही नहीं है कम ज्यादा होना है और सात्विक स्थिति बढ़ना मतलब उन सात्विक संस्कारों का इकट्ठा एक साथ उभर करके बुद्धि के सामने आत्मा के सामने आने से कहा जाता है कि सात्विक स्थिति उभर बढ़ गई और उन संस्कारों का उभरना वो भी तो संस्कार है स्मृति से नहीं माना जाएगा देखो इसको संस्कारों से एक तो मत छोड़िए जो सात्विकता उभरी है वो संस्कार जन्य नहीं है संप्रज्ञात समाधि की बता रहा वो जो द्रव्य है सत्व चित्त उसमें सत्व गुण का उभार होगा नए सत्व के कण नहीं आएंगे उसमें उद्भूत होंगे अन्य अनुद्भूत होंगे एक जगह इकट्ठा और वो भी मत शब्द मत बोलिए प्रकट होंगे उद्भूत होंगे और दूसरे अनुद्भूत होंगे क्षय को प्राप्त होंगे इसलिए वो सुख होगा ये संस्कार जन्य सुख नहीं है ये संस्कार जन्य सुख नहीं है ये साक्षात सुख है वहां का संस्कार जन्य सुख का मतलब है संस्कार उभरे तो इसका मतलब है वृत्ति आई है और वृत्ति बाह्य विषयों के सुख की होगी तो वो स्मृति जन्य होगी तो वो बाधक होगी संप्रज्ञात समाधि जन्य सुख की भी स्मृति होगी वो अलग होगी वो संप्रजात समाधि जन्य सुख नहीं है साक्षात संप्रजात समाधि जन्य सुख की स्मृति से भी सुख आता है किंतु मैं जो बात कह रहा था वो संप्रजात समाधि जन्य सुख जो साक्षात है वो उससे भी वैराग्य हो जाना है और स्मृति से तो बाद में होगा ही जब वो पर वैराग्य में जाएगा तो संस्कार यदि अविद्या युक्त तो उभर रहे हैं तो वो बात है जाए नहीं तो नहीं है संस्कार को अलग कर दीजिए और जो सीधा सुख होता है सत्व गुण का उसको अलग कर दीजिए उस तरह से जैसे कि हम किसी भोजन को खाद्य पदार्थ को लेते हैं स्वादिष्ट है एक उसकी स्मृति से सुख होता है और एक सीधे खाते हुए हमें प्रत्यक्ष होते हुए अनुभव होता है जैसे ये दो भिन्न है ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि में जो गुण के कारण से सुख होता है वो अलग है और उसकी स्मृतिजन्य सुख उसी संप्रज्ञात समाधि की सुख की स्मृतिजन्य सुख है वो अलग है वो हो सकता है वहां पर उसमें बाधा नहीं है वो भी बाधक नहीं है वहां पर लेकिन विषय जन्य सुख और तजन्य स्मृति जन्य सुख वो नहीं लेगा वहां पर तब हम कह सकते हैं कि ये अपर वैराग्य की स्थिति है हम्म। उसमें सत्व गुण का तो उभरने की बात करें तो उसका क्या कारण होगा क्यों उभरेंगे संस्कार देने तो भाई नहीं स्मृति जन्य नहीं है तो किस निमित्त से उभरेंगे एकाग्रता जन्य है जब बाह्य चीजें हट जाती हैं जो बाह्य विषयों से संबंधित विचार हैं भिन्न संस्कार हैं वो नहीं उभरते हैं तो उसको दूसरे शब्दों में कहें कि सत्वगुण और रजोगुण वो नहीं उभरता है वो क्षीण हो जाता है शांत होता जाता है शांत होता जाता है तमोगुण हाँ तमोगुण और रजोगुण हाँ क्षमा करें ये शांत होता जाता है शांत होता जाता है क्योंकि जो इनको बढ़ाते हैं जो स्मृति जो विषय इनको बढ़ाते हैं उधर से वो हट रहा है तो एक तो ये कम होते चले जाते हैं दूसरा ये एकाग्रता की बहुत जागरूकता की स्थिति होती है ये जो बनती है इस समय बहुत जागरूक बहुत एकाग्र किसी एक विषय पर केंद्रित इसमें सत्वगुण बढ़ता ही है सत्वगुण के बढ़ने पर और के क्षीण होने पर ही ये स्थिति बनती है तो इसलिए वहां पर सत्वगुण बढ़ता ही है ये प्रकृतिता है ईश्वर की व्यवस्था है ऐसा ही होगा जैसे बहुत अधिक चंचलता हो तो रजोगुण बढ़ेगा तो कोई हम पकड़ करके नहीं बढ़ाते उसको अधिक भोजन कर लिया है थक गए हैं रात्रि हो गई है तो तमोगुण बढ़ेगा नींद आएगी कोई हम पकड़ करके तमोगुण को नहीं बढ़ाते हैं हम ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं कि तमोगुण बढ़ सकता है रजोगुण बढ़ सकता है और हम जो करते हैं उससे सतोगुण भी बढ़ता है बढ़ सकता है और जब सत्गुण बढ़ता है तो अपना सुख देगा वो सुख देगा इसलिए उसमें सुख होता है सत्य मृत्यु तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ट जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो प्रकृति को वो अपने से अलग देखता है विवेक ख्याति को जो कि सत्वगुण की प्रधानता वाली है उससे अपने को अलग देखता है उसको क्षणिक देखता है उसको क्षीण होने वाली देखता है परिणामी देखता है अपने को नित्य और अपरिणामी देखता है ये भेद वहां पर आता है तो पुरुष की ख्याति होने पर यह गुण का सुख या गुण वैतृष्ट पैदा होता है नहीं तो नहीं होगा शरीर से तो वो बहुत पहले अपने को समझ रहा है शरीर से भी बहुत ऊंचा जा चुका है वो शरीर से आत्मा की पृथकता का भाव वो पहले से सिद्ध कर चुका है शरीर स्थूल शरीर की बात कर रहा हूं लेकिन सबसे अंतिम जो राग या निकटता रहती है वो बुद्धि से रहती है चित्त से उसकी स्थिति से वो सात्विक जो सुख स्थिति होती है उसी से सबसे अंत में छूटता है इसलिए विवेक ख्याति के लिए वहां शब्द प्रयोग करते हैं सत्व पुरुष अन्यता ख्याति पुरुष यानी आत्मा और सत्व मतलब ये चित्त बुद्धि इसकी भिन्नता ये विवेक ख्याति है ये विवेक है और जैसे ही विवेक होगा कि ये अलग है मैं अलग हूं तो उससे वैराग्य हो जाएगा योग दर्शन के दूसरे सूत्र में योगश्चित वृत्ति निरोध में जो व्यास जी ने बात लिखी है वहां उसी प्रक्रिया उसी बात को वहां पर लिखा है उन्होंने तो संयम और वैराग्य तो कहना है कि ज्ञान के बढ़ने पे वैराग्य होता है तो वैराग्य और संयम क्या ये एक ही बात है वैराग्य एक होता है मानसिक स्तर पर राग का अभाव वित्रृष्णा और वो प्रतिफलित कहां होती है हमें व्यवहार में कहा दिखाई देती है उन विषयों से हमारा अलग हो जाना ठीक है जो वस्तु में जिस वस्तु में हमारी रुचि नहीं है हम बाजार में जाएं हमारे पास पैसे भी हैं बाजार में उपलब्ध भी है देने वाला बुला बुला करके दे भी रहा है कि ले लो ले लो सब कुछ है कोई आपत्ति नहीं है किसी तरह की फिर भी हम उसको नहीं ले रहे हैं ये एक संयम है क्यों नहीं ले रहे हैं हम हम उसको अनावश्यक समझ रहे हैं जो भी कारण है अभी आवश्यक नहीं है या हमारे पास सामान उठाने को नहीं है हमारा वाहन भर गया है या पैसे नहीं है कुछ भी है लेकिन सब चीज होते हुए पैसा भी है साधन भी है कुछ रख भी सकते कोई दिक्कत नहीं है हमारे को लेकिन फिर भी हम नहीं ले रहे हैं उसको क्यों नहीं ले रहे हैं हम हम उसको अनावश्यक समझ रहे हैं या उसको हम कष्टदायक समझ रहे हैं आफत समझ रहे हैं कुछ तो भाव है ना वो तो है मानसिक जब हम उसको हमारे मन में उसके प्रति राग नहीं है इच्छा नहीं है प्रीति नहीं है लेने की ये मानसिक भाव है बौद्धिक भाव है ज्ञान के स्तर पर है इससे हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई उसके प्रति इच्छा नहीं हुई तो हम उसको और प्रवृत्त भी नहीं हुए लेने के लिए तो ये जो स्थिति है बाहर की बाहर के व्यवहार के साथ में उसको हम मोटे तौर पर संयम कहते हैं हालांकि वो भी मानसिक ही होता है तो संयम जब भी सधेगा वो वैराग्य का ही भाग है वैराग्य के होने पर मानसिक बौद्धिक स्तर पे वैराग्य मानेंगे बाह्य स्थूल स्तर पे संयम मानेंगे तो उस वैराग्य के कारण ही ये संयम हो रहा है और संयम को आप मानसिक रूप से भी देख सकते हैं तो हम विषयों से जो पृथक हो जाते हैं अलग हो जाते हैं हानिकारक चीज को छोड़ देते हैं उचित चीज को ले लेते हैं ये जो व्यवहार है ये वैराग्य है हाँ, योग दर्शन तीसरे पाद में जो संयम शब्द आया त्रयम एकत्र संयम धारणा ध्यान और समाधि वो संयम शब्द अलग है ये संयम में अर्थ में जो बोल रहा हूं नियंत्रण वो एक पारिभाषिक संज्ञा है कि जहां जहां संयम शब्द का प्रयोग करेंगे वहां धारणा ध्यान और समाधि तीनों को सामूहिक रूप से कहना अभिप्रेत है उन्होंने अपनी एक परिभाषा कर दी एक शब्द दे दिया एक संज्ञा दे दी कि इसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे ताकि व्यवहार में सुविधा रहे बार बार इन तीनों को ना बोलना पड़े और एक शब्द को बोलने से होगा वो संयम अलग है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं ये व्यवहार में जो हम नियंत्रित होते हैं दूसरे विषयों से हटते हैं अपने को निश्चित रास्ते पे ही चलाते हैं यही खाना है यही पीना है ऐसे ही रहना है इनसे मिलना है इससे नहीं मिलना है ये जो सारा हम बहुत कुछ करते हैं ये एक संयम होता है सारा और कोई हाँ नहीं हो सकता नहीं हो सकता देखिए दो स्तर का विवेक दो स्तर का वैराग्य है वैराग्य दो स्तर का है तो विवेक भी दो स्तर के मानने पड़ते हैं निचला वाला जो वैराग्य है अपर वैराग्य जिसको बोलते हैं उसके लिए जितना ज्ञान चाहिए वो आवश्यक है उतना ज्ञान और उतना अपर वैराग्य होगा तो आत्म साक्षात्कार होगा लेकिन इतने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है उसके लिए पर वैराग्य चाहिए और पर वैराग्य के लिए उसी स्तर का ज्ञान भी विवेक भी चाहिए उस स्तर का विवेक होगा फिर वैराग्य होगा पर वैराग्य तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा ये दो सीढ़ियां हो गई आत्म साक्षात्कार यानी अपना खुद का साक्षात्कार वो एक निचला स्तर है और परमात्मा का साक्षात्कार ये उससे ऊंचे का ऊंचा स्तर है लेकिन दोनों के लिए अपना अपना जो वैराग्य है वो आवश्यक है और उस वैराग्य के लिए विवेक भी आवश्यक है इसके बिना नहीं होगा ये क्योंकि इसके बिना वृत्ति निरोध ही नहीं होगा वृत्तियां रुकेंगी ही नहीं ये जो हम वैराग्य की बात कर रहे हैं ये बाह्य विषयों से संबंधित हम बहुत सा वैराग्य सोचते हैं लेकिन जो वृत्तियों का रुकना है वो तो वैराग्य के कारण ही हो पाएगा जो वैचारिक स्तर पर सांसारिक सुख हम लेते हैं वृत्तियां उठाते हैं ये क्यों होता है वैराग्य नहीं है इसीलिए तो होता है वैचारिक स्तर पर वृत्ति आएगी तो ये जो विवेक वैराग्य है एक अभिप्राय हम स्थूल रूप से देखते हैं है। लेकिन साधना के स्तर पर यह मानसिक रूप से देखा जाता है तो संप्रज्ञात समाधि आत्मा का साक्षात्कार तब होगा जब वृत्तियां रुकेंगी एक वृत्ति रहेगी केवल अन्य चीजें हटेंगी और अन्य चीजें हट कैसे सकती हैं अन्य विचार हटेंगे कब जब उसे उन विचारों से भी वैराग्य होगा वैचारिक स्तर पर भी वो वैराग्य की स्थिति में होगा तो वो वृत्तियां नहीं आएंगी वो उन्हें अनावश्यक समझेगा उठाएगा ही नहीं वहां मन के स्तर पर बुद्धि के स्तर पर वैराग्य होता है तभी आत्मा साक्षात्कार होगा नहीं तो वो उतनी एकाग्रता ही नहीं आ पाएगी कि आत्मा का साक्षात्कार कर ले अन्य विषयों में ही भटकता रहेगा अन्य विषय सोचता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता श्रुति एकाग्रता की जो तो अच्छी स्थिति बनती है उसमें उस समय जो कर रहे होते हो प्रयत्न के लिए तो प्रयत्न ही कारण है या उसमें कुछ संस्कार देता तो नहीं तीन नहीं नहीं स्मृति नहीं है संस्कार उसमें कारण बनते हैं संस्कार कौन से विवेक के संस्कार ज्ञान के संस्कार उसमें काम करते हैं वो ज्ञान उभरा है जो हमने संसार में सुख दुख देखा है सुख में दुख देखा है ये ज्ञान है संस्कार डाला ये उभरेगा उससे वैराग्य की स्थिति बनेगी उस रूप में सहायक है लेकिन जो सुख आ रहा है वो सुख तो सत्गुण के बढ़ने पे आ रहा है सत्गुण के बढ़ने पे आ रहा है संस्कार दो तरह के अलग अलग देखें एक तो है विवेक के संस्कार वो उभर रहे हैं अभी और वो उसको एकाग्रता में ले जा रहे हैं अन्य वृत्तियां हटा रहे हैं उसके और उससे हटी जाएगी अपने आप हटेंगी ये संस्कारों का बढ़ना उसमें समाधि में सहायक बन रहा है क्योंकि पूर्व जो अब तक उसने जाना है समझा है इतने वर्षों तक अनुभव लिया है वो तो सहायक करे, करेगा ही सहायता करेगा ही उसको बहुत बल देता है उसके बिना तो बन ही नहीं सकता तो वो तो आएंगे वो आएंगे वो अंदर की स्थिति में रहेंगे विषयों को रोक देंगे वृत्तियों को रोक देंगे लेकिन जो सुख आएगा वो उन संस्कारों के कारण से नहीं आ रहा है वो गुण के उभरने से आ रहा है और दूसरे जो संस्कार में कह रहा था कि गुण के उभरने से जो सुख हुआ है ये जो अनुभूति हुई है इसका अपना अलग संस्कार है ये ज्ञान के संस्कार है वो अलग चीजें सत्वगुण के उभरने पर संप्रज्ञात में जो सुख होता है उसकी स्मृति जो आ रही है वो जिस संस्कार से आ रही है वो संस्कार अलग है वो भिन्न समय में हो सकते हैं उससे भी सुख ले सकता है व्यक्ति लेकिन जो सुख आएगा ये जो सुख आएगा इसको संप्रज्ञात समाधि में वो साक्षात सत्व गुण के इसका सुख होगा जैसे कि साक्षात विषय भोग से सुख आता है वो उसके केवल स्मृति जन्य नहीं है ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि का भी एक तो साक्षात सुख है वो स्मृति जन्य संस्कार जन्य नहीं है और जो संस्कार जन्य है संप्रज्ञात समाधि का सुख वो साक्षात संप्रज्ञात समाधि नहीं है वो उसकी स्मृति जन्य सुख है वो अलग है वो संप्रज्ञात समाधि नहीं कहलाती है ऐसा ठीक है स्वामी जी तो अपर वैराग्य के सूत्र के भाष्य में व्यास जी ने स्थिति को लिखा हे उपादेय शून्य हे का मतलब होता है ये छोड़ने योग्य त्याज्य है और उपादेय मतलब ये ग्रहण करने योग्य है इन दोनों स्थितियों से शून्य हो जाता है वो ये अपर वैराग्य के विषय वितृष्ण से वशिकार संजय वैराग्यम जो उन्होंने कहा वशिक एकदम पूरा नियंत्रण में होना उसका एक ये लक्षण भी है और बड़ा विचित्र लक्षण है ये हे और उपादेय से शून्य हे कौन जो त्याज्य है जो दुखद है हानिकारक है उसके प्रति हेय का भाव रहता है और उपादेय मतलब वो विषय ग्रहण करने योग्य है ये है उपादेय का भाव उन दोनों से रहित होता है इसके लिए थोड़ा दूसरा भाग भी देख लेते हैं कि सांख्य दर्शनकार ने विरक्त का एक लक्षण दिया विरक्त हे हानम उपादे उपादानम हंस क्षीरवत विरक्त जो हो चुका है वो छोड़ने योग्य को बहुत सरलता से छोड़ देता है और जो ग्रहण करने योग्य है उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है बल नहीं लगाना पड़ता उसको अच्छी चीजों को ले लेता है और बुरी चीजों को छोड़ देता है कैसे होता है हंस क्षीर जैसे पानी में कमल का पौधा होता है उसकी नाल होती है डंडी उसमें एक दूध जैसा कुछ मीठा तरल पदार्थ होता है तो हंस उसको तोड़ के उसको ले लेता है और पानी को नहीं लेता है सरलता से उसके लिए सहज है ये हंस क्षीर वाला उदाहरण है उसके लिए वो सरलता है हंस क्षीरवत मतलब जैसे हंस बड़ी सरलता से कमल नाल में जो कि पानी में है उससे उसको रस को ले लेता है और पानी को नहीं लेता ऐसे ही ये योगी ये विरक्त हेय का हान कर देता है और उपादेय का उपादान कर देता है एक तरफ तो ये कहा गया विरक्त का लक्षण है ये नहीं भी ठीक है अपनी जगह पे बिल्कुल और दूसरी तरफ यहाँ अपर वैराग्य के लक्षण में महर्षि व्यास जी के लिखते हैं हे उपादेय से शून्य होना वहां तो हे कर रहा है वो हे से हंस क्षीरवत और यहाँ कह रहे हैं हे से भी शून्य और उपादेय से भी शून्य तो उनका प्रश्न ये है कि जो हे उपादेय शून्यता है ये वैराग्य में कैसे होती है क्या स्थिति है ये तो देखिए दोनों संख्य और योग का जो ये बात है उसमें हे वाली बात तो एक ही विषय की है उपादेय दोनों जगह अलग अलग अर्थ के लिए हैं सांख्य में जो हे, हे हानम और उपादेय का उपादान है उपादेय का उपादान जैसे अच्छी चीजों का लेना परमात्मा का लेना है वैराग्य का और जो चीजें हैं वो ये उस संदर्भ में है और अपर वैराग्य के व्यास भाष्य में जो लिखा हुआ है वो विषय सुखों के लिए ही है ये हे का हे और उपादेय दोनों से शून्य स्थिति उसकी रहती है विरक्त की तो विरक्त की उपादेय से शून्य हो ये भी समझ में आ जाता है विरक्त जो है वो सांसारिक विषयों को उपादेय के रूप में नहीं लेगा तो उपादेय से शून्य तो समझ में आता है उसमें तो कोई संशय नहीं होगा ठीक है क्योंकि वैराग्य का मतलब ही यही है ना कि उन विषय भोगों को छोड़ना उसको उपादेय ना समझना उपादेय का उपादान वो नहीं कर रहा है जो विषय सुख है उसको वो उपादेय नहीं मान रहा है उपादा उपादान के उपादेय से वो शून्य है विषय सुखों के प्रति देखना इसको विषय सुख उपादेय हैं इस भावना से वो शून्य है विषय भोग उपादेय हैं इस भावना से वो शून्य है वैराग्य का यही तो स्वरूप होता है ना हम उसको लेने की इच्छा ना होना प्रीति ना होना तो यहां तक तो कोई बात नहीं है समस्या कहां पर है हाँ। वैराग्य का मतलब ही ये होता है कि छोड़ना तो ये हे से शून्य कैसे हो सकता है वो तो इस वैराग्य का तो स्वरूप ही है कि उसको छोड़ना उससे शून्य कैसे है ये आई बात समझ में प्रश्न समझ में आया उत्तर भी आगे आएगा लेकिन कहा प्रश्न है ये समझो प्रश्न बनेगा ना वेद निष्ठ जी हे से भी शून्य कैसे हो सकता है वैरागी हे हे से युक्त तो होता है वो विषय भोग हे है इसी को तो वैराग्य कहते हैं उससे शून्य कैसे हो सकता है ये तो इसका स्वरूप है हे से तो युक्त तो होना चाहिए वो शून्य कैसे हो सकता है ठीक है आई बात समझ में प्रश्न आ गया समझ में तो उसका उत्तर है जिस समय हम विषय को छोड़ रहे होते हैं कि ये त्याज्य है मेरे लिए तो उस समय भी उसके प्रति राग है इसलिए हमें वो करना ये छोड़ने योग्य है ये छोड़ने योग्य है जब वैराग्य परिपक्व हो जाता है तो उसके मन में ये भाव ही नहीं आता कि ये छोड़ने योग्य है छूट चुका है अंतर देखना एक उदाहरण लीजिए कि एक व्यक्ति शराब पीता है और वो ऐसी जगह गया जहां शराब पी जा रही है ऐसी शादी ब्याह में पार्टी में कहीं गया जहां उसके पुराने मित्र हैं वो शराब पी रहे हैं और शराब है अच्छी से अच्छी शराब है एक व्यक्ति पी तो नहीं रहा लेकिन मन में सदैव सोच रहा है ये गलत है नहीं पीने योग्य है मेरे को नहीं पीनी है नहीं पीनी है नहीं पीनी है ठीक है पूरी तरह पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है उसका लेकिन ये त्याज्य है ये त्याज्य है इसको सोचना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है और एक दूसरा और है वो शराब को तो देख भी रहा है पी रहे हैं उसके मन में ये नहीं आ रहा कि छोड़ने योग्य है छोड़ने योग्य है क्योंकि उसको उसमें कुछ भी आकर्षण नहीं दिख रहा है उपादेय से शून्य हे से शून्य है हे से भी शून्य है वो जो उसको बार बार हे समझ रहा है कि नहीं ये छोड़ने योग्य है नहीं ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है इसका मतलब है वह ज्ञान काम कर रहा है उसको थोड़ा आकर्षित कर रहा है जिससे वो अपने को रोकने का प्रयास कर रहा है तो हे से शून्य स्थिति ऊंची स्थिति है उससे निचला स्तर वो है जो उसको हे समझ रहा है विचार बिल्कुल नहीं रहा ला रहा है लेने के लिए लेकिन उसको हे कोटि में बनाए रखना पड़ता है उसको ये हे है ये हे है उस स्तर को ज्ञान को बना के रखना पड़ता है अगर ऐसी स्थिति है तो यह पर वैराग्य नहीं है कोई कह सकता है कि मैंने बिल्कुल भी एक बार इस विषय को शराब को पीने का विचार नहीं उठाया मैं सतत प्रतिपक्ष भावना करता रहा कि ये छोड़ने योग्य है ये छोड़ने योग्य है ये ठीक नहीं है ये गलत है और अपने को मैंने पूरा बचा के रखा वैचारिक स्तर पर भी और ये मेरा अपर वैराग्य है है ये बहुत ऊंची स्थिति है लेकिन एक स्तर का मैं अभी भी उसका आप और हम जो शराब बिल्कुल नहीं पीते वर्षों से नहीं पीते या तो पी ही नहीं है क्या हमारे को वहां ये सोचना पड़ता है कि शराब है और ये छोड़ने योग्य है ये आकर्षित ना कर ले या मैं बिल्कुल बचा के रखूंगा कोई विचार आएगा उस विषय में कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कोई विचार ही नहीं है उस विषय में ठीक है वो पी रहे हैं पी रहे हैं देख रहे हैं ये केवल सूचना जा रही है और कुछ नहीं है ये हे है छोड़ने योग्य है हम हे से शून्य है या नहीं है हम स्थिति में बने हुए हैं अभी अपने को नियंत्रित कर रखे हमें उसको बचाने बचने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है हम कुछ और बात कर रहे हैं कुछ हम और सोच रहे हैं कुछ और क्रियाएं कर रहे हैं ये ऊंचा स्तर है ये वैराग्य का है जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तब ये वैराग्य होता है इसलिए इस स्थिति के लिए वहां कहेंगे कि हे से शून्य है वो उसको ज्ञान के स्तर पर हे न माने ऐसा नहीं है हे तो मानता है वो त्याज्य है लेकिन वो कर चुका है उस काम को पूरा हे मान चुका है अब वो उसको बिल्कुल भी खींच नहीं रही है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है वो विषय वो शराब आकर्षित नहीं कर रही है बिल्कुल भी नहीं खींच रही है क्योंकि वो खींच नहीं रही है इसलिए उसको छोड़ने की बात भी उसके मन में नहीं आती तो वो तो छूट चुकी है उस स्तर पर इस पंक्ति को हम लगा सकते हैं हे और उपादेय से शून्य उपादेय से शून्य तो होना ही है हे से भी शून्य हो जाएगा कुछ उस विषय में करना ही नहीं है उसको पढ़िए जितनी भी शराब पड़ी है पढ़िए मैं तो गया आया कुछ भी नहीं है शराब की दुकान में गए पूरा भरा पड़ा है उस अलमारियों से और इतनी शराब है और बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी सब कुछ है कोई रोकने टोकने वाला नहीं है मालिक ने कह दिया कुछ भी वो हमारा मित्र है कुछ भी कोई टुक टुक नहीं है और चाहो चो तो ले लो पी लो कुछ भी कर लो नाना हो ना लो उसमें <laughs> कुछ भी कर लो वो रोकने वाला नहीं है लेकिन फिर भी हमारी क्या है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आज शराब पी लू कहीं कोई ऐसी विशेष शराब ना आ जाए उसकी गंध की मेरे चख लू ये बिल्कुल भी हम हम लोगों के मन में या अधिकांश के मन में नहीं आएगा जो उस स्तर पर पहुंच गए तो ये हे से शून्य स्थिति ऐसा हाँ ठीक है <laughs> हमारे लिए लागू नहीं होता ये तो उदाहरण एक दिया जब एक विषय में ये स्थिति बन सकती है दृष्टांत तो, तो वही होगा ना दृष्टांत तो कौन सा देंगे आप जो जो आप जो समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ यहाँ ये स्थिति है यहाँ ये दो भेद हमें समझ में आते हैं ना बिल्कुल ऐसे के ऐसे अन्य विषयों में भी होंगे हम हमारी स्थिति शराब पीढ़ी सिगरेट मांस इनके विषय में ऐसी बन चुकी है ऐसी ही स्थिति अन्य विषयों के प्रति भी जिस दिन बन जाएगी ये अपर वैराग्य कहलाएगा ये अभी नहीं कहा मैंने वो आपने दूसरा विषय उठाया हालांकि इससे संबद्ध है वो भी वो भी विषय लेते लेते हैं वैराग्य के संदर्भ में जब मैं प्रारंभ में बात कर रहा था तो जैसे भोजन के लिए बात रखी थी कि अधिक खाने से जो कष्ट होता है उससे हम बच सकते हैं ठीक है स्थूल जो दुख होते हैं उससे हम बच सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम बच नहीं सकते दूसरे शब्दों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है अनिवार्य है और हमने अनिवार्य बना लिए ऐसा नहीं वो प्रकृति तय स्वभाव तय वो हमारे लिए अनिवार्य है वो व्यवस्था है ईश्वर की तरफ से व्यवस्था है जिसके बिना हम चल नहीं सकते उनको एक तरफ रखेंगे और बाकी विषयों को एक तरफ रखेंगे ये दो विभाजन हमें करने होंगे जिनका जिन विषयों का सेवन हमारे लिए अनिवार्य नहीं है उस ओर तो प्रवृत्ति नहीं जाएगी साधक की अलग अलग स्तर है किसी के लिए कोई अनिवार्य हो सकता है किसी के लिए कोई अनिवार्य नहीं हो सकता है उस भेद से हम मान लीजिए लेकिन जिनके बिना किसी का भी काम नहीं चलता है ठीक है निद्रा का सुख लेगा वो कोई भी सोएगा तो ठीक है उचित निद्रा लेगा वो निद्रा का भी सुख है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता भले ही तमोगुण है उसमें या जो हानियां है लेकिन वो हमारी उन्नति के लिए आवश्यक है इसी तरह से भोजन आवश्यक है पानी आवश्यक है वायु आवश्यक है इत्यादि स्नान आदि आवश्यक है रहने के लिए कुछ न्यूनतम जितनी न्यूनतम हो सकती है वो आवश्यक है इनके प्रति जो हमारी प्रवृत्ति होती है ये है मुक्ति के साधन मुक्ति के साधन के रूप में है ये तो इनका उचित उपयोग हमें करना होता है तो ये बात भोजन के लिए जो आप कह रहे हैं तो भोजन में उनका कहना है कि सुख लेंगे तो राग होगा बंधन का कारण होगा लेकिन भोजन को यदि हम अरुचि से करेंगे तो भी वो रोग का कारण बनेगा जैसे भोजन आवश्यक है ऐसे भोजन करने की कुछ विधि है वो भी आवश्यक है उसकी प्रक्रिया है वो प्राकृतिक है वो हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है भोजन हमारे लिए अनिवार्य है और भोजन करने की प्रक्रिया भी उसके भी कुछ नियम अनिवार्य है और उसमें भोजन में तन्मय होके खाना और रुचि लेना वो भी आवश्यक है इस दृष्टि से वो मैंने बात रखी पहले कभी अभी नहीं जिसको इन्होंने कहा कि भाई वो सुख है तो वो तो रहेगा और वो रहना चाहिए उसका मना नहीं है वो विद्या युक्त है वो सुख विद्या युक्त है जिस सुख को रोका जाता है वो अविद्या युक्त होता है जो छोड़ने योग्य है जो विषय छोड़ने योग्य है उसके उपादेय और हे से शून्य जो ग्राह्य है उसके लिए उपादेयता रखनी ही होगी कोई नहीं बचा है कोई बच नहीं सकता उससे अगर कोई वैराग्य के स्वरूप को इस स्थिति में इस अति में जाकर के समझता है और उसको व्यवहार में लाएगा पहली बात तो वो ला नहीं पाएगा और फिर भी बलात् लाने का प्रयास करेगा तो वो हानि भी अवश्य उठाएगा ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है वैराग्य का ठीक ही स्वरूप ही नहीं समझाए ये तो करना पड़ेगा नहीं तो रोग आएंगे इसलिए इनका समयोग और उचित मात्रा में अगर हम उपयोग करते हैं तब उनका पाचन ठीक होता है क्योंकि ये तंत्र ही ऐसा बना है कि हम जब भोजन के प्रति एकाग्र होते हैं तो विभिन्न स्राव होते हैं पाचक रस निकलते हैं यदि हम उस समय मन को और कहीं ले जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये भोजन में अगर रस आ गया तो ये बाधक बन जाएगा तो पाचक रस नहीं निकलेंगे ठीक तरह से और पाचन ठीक नहीं होगा इसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता न आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से न आयुर्वेद की दृष्टि से न प्रत्यक्ष की दृष्टि से तो ये प्रकृति के नियम है वो हमें करना चाहिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि हम उस सुख को भोजन के सुख को जीवन का चरम लक्ष्य समझते हो खाना ही मेरा लक्ष्य है इस सुख को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है तो ये निश्चित रूप से बाधक होगा और ऐसा व्यक्ति अधिक भी खाएगा बार बार भी खाएगा या विकृत भी खाएगा और वो उससे बीमार पड़ेगा और आगे साधना की बात तो दूर रही वो छोड़ दीजिए लेकिन जिसने उसको लक्ष्य नहीं बनाया अपना वो उसको साधन के रूप में ही देख रहा है उसमें सुख लेने को भी वो साधन के रूप में देख रहा है और जो कि अविद्या युक्त नहीं है मुख्य बात है वो अविद्या युक्त नहीं है हम किसी को साधन समझ लें साधन है नहीं लेकिन साधन समझ लें तब तो बाधक होगा असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत सांख्य दर्शन का एक सूत्र है जो असाधन है साधन नहीं है उसका सोचना उसको साधन समझ लेना अपनाना वो तो बाधक बनेगा लेकिन जो साधन है उसको साधन को साधन के रूप में जो ले रहा है मुक्ति के साधन के रूप में परोक्ष रूप से परंपरा से कि इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मैं शरीर से योग के ढंग से कार्य कर सकूंगा साधना कर सकूंगा ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा विवेक वैराग्य प्राप्त कर सकूंगा इत्यादि वो पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है आपस में संबंध है एक दूसरे के साथ विद्या युक्त अगर वो कर रहा है तो इससे मुक्ति में कोई बाधा नहीं है ये आवश्यक है करना ही होगा एक स्वामी जी कुछ अच्छा इससे अंतर क्या पड़ेगा ये बताओ अंतर कुछ नहीं पड़ने वाला है आत्मा के लिए उपादेय नहीं है यानी भोजन में रस लेना इसी उदाहरण को मैं लेके रखता हूं भोजन में सुख लेना या भोजन करना भी आप ले लो ये प्रश्न दोनों पक्षों में जाएगा जो भोजन का सुख नहीं लेने की बात कहते हैं या नहीं लेते हैं लेकिन भोजन करते हैं वहां भी यही बात है कि भोजन जो कर रहे हो वो आत्मा के लिए तो है नहीं यानी सीधे सीधे आत्मा का तो पोषण नहीं होता है उससे ये शरीर का होता है लेकिन वास्तव में वो आत्मा के लिए ही है क्योंकि वो शरीर के लिए होता हुआ आत्मा के लिए क्योंकि शरीर आत्मा का साधन है ये सब आत्मा के लिए ही है उस रूप में नहीं कि जैसे शरीर का भार बढ़ता है शरीर में शक्ति आती है ऐसे आत्मा में कुछ बढ़ता है उस रूप में नहीं लेकिन आत्मा का जो साधन है मुक्ति का मूल साधन है आदि साधन है वो तो शरीर है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम आदि साधन है ये आज के जो मंत्र में आदि शब्द था जीव आदि मतलब श्रेष्ठ है प्रथम प्रमुखता से साधन है प्रारंभिक साधन है मूलभूत साधन है आधारभूत साधन है इत्यादि कई अर्थ होते हैं उसमें तो वो जो आप समाधान दे रहे हो ना कि भाई ये तो ये सुख शरीर के लिए है आत्मा के लिए नहीं है ऐसा करके वहां समाधान नहीं हो सकता अंततः ये तात्कालिक उपाय है ऐसा कोई समझ के थोड़ी देर के लिए कर लेगा कर सकता है ये वास्तविक समाधान नहीं है और वो प्रश्न उन पे भी आएगा ये प्रश्न उधर भी आएगा इसलिए वो भी नहीं बच सकते वो भी तो वहां समाधान करते हैं ऐसे सुख वाले में भी समाधान करेंगे हो गया है हाँ हाँ हाँ आत्मा हे उपाधेय नहीं है आत्मा ना तो हे में आती है ना उपाधेय में आती है आत्मा को हे नहीं कह सकते न उपाधेय कह सकते ठीक है वो एक विषय अलग है उसका इससे क्या संबंध है वैराग्य से क्या संबंध है आत्मा को किसी ने भी हे उपाधेय नहीं कहा है वो तो है हम हैं हम किसी को छोड़ सकते हैं ले सकते हैं वो अलग विषय है तो इसलिए आत्मा की बात तो ठीक है उसमें कोई मतभेद नहीं है श्रीवास्तव में ये जो मोटे मोटे नियम लिखे हुए हैं ठीक है वो स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में भी वर्णन दे रखे हैं हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी कुछ कुछ मिल जाते हैं हमें स्वयं को भी बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं ये मेरे लिए आवश्यक है या आवश्यक नहीं है हो सकता है थोड़ा बहुत हो सकता है किसी का शरीर की प्रकृति स्वभाव पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत सारी चीजें अं-, अंतर होते हैं स्थान आदि का रोग आदि का कारण से वो भिन्नता हो सकती है लेकिन आहार सबको चाहिए वो कुछ किसी को कुछ अनुकूल है किसी को अनुकूल कुछ अनुकूल है वो भिन्नता हो सकती है लेकिन सब आहारों में सुख तो है कम या अधिक वहां सब जगह ये बात लागू होगी हमारी प्रकृति के जो अनुकूल है वो हमें लेना चाहिए ले सकते हैं मैं तो ये क्या क्या चीजें हैं और तो आप सब कर सकते हैं अब इसको माइक को भी आप कह सकते हैं आवश्यक है कुछ एक सीमा पे ठीक है ये आवश्यक है कुछ हमने और साधनियां जैसे जुटा रखे हैं हमने ये कुर्सियां भी रखी हैं ये दरिया रखी हैं ये तख्त रखे हुए हैं इत्यादि इत्यादि ये घड़ी है ऐसी जो हमें आवश्यक लगती है और इससे भी ये कोई हमारे बंधन का कारण नहीं है इनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं उतना तो करना ही होगा लेकिन ये हमारे बंधन का कारण नहीं है उतने में अपनी अपनी सीमा में ले सकते हैं लेकिन ये भी एक विवेक का काम है कितने वस्त्र होने चाहिए कितना मकान होना चाहिए कितना भोजन होना चाहिए इत्यादि वो सब विवेक की बात है सीधे सीधे किसी एक पैमाने पे सबको न तो घटा सकते भिन्नता होगी उसके कुछ लक्षण दिए हैं कितना भोजन होना चाहिए उसके लिए उन्होंने बता रखा है कितने वस्त्र चाहिए यह आप और हम समझते हैं दो जोड़ी भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार हो गए किसी को पांच हो गए ब्रह्मचारियों के पास तो प्राय दो या तीन जोड़ी होते हैं इतने से चल जाता है काम किसी को ज्यादा भी होते हैं तो ठीक है कुछ ज्यादा हो जाएंगे लेकिन सौ जोड़ी तो नहीं कह सकता ना कोई पचास जोड़ी तो नहीं कह सकता ना कोई ठीक है आप आठ दस ले लीजिए और कोई है ऐसा तो पंद्रह ले लीजिए वो भी बहुत होते हैं लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग चाहिए किसी को ऐसा लेकिन अधिक नहीं हो सकता है तो बीच की जगह जहां सीमा है वहां तो थोड़ा हो सकता है कोई इतना कहे इतना कहे लेकिन ज्यादा इधर उधर जाएगा तो एकदम पता लगता है कि ये अब बाहर चला गया अति में चला गया उससे हम निर्णय कर सकते हैं हम्म, पूछो आत्मन जी समय बहुत हो गया हम्म। हम्म। चार्जेस तो बाकी उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है बाकी उसको शारीरिक प्रभाव पड़ता है तो स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है तो भाग्य ठीक होते हुए उसको रात का वो करता है नहीं यहाँ हानि हो रही शारीरिक रूप से हानि होती है करता है हानि होने से व्यक्ति को ऐसा तेल लगाना चाहिए ऐसा लगाना चाहिए ताकि प्रसन्न रहे अच्छा ठीक है उतना छोड़ने का इनका कहना है कि भाई आयुर्वेद में कोई पुष्पों का मान लो वर्णन है कि भाई पुष्प होने चाहिए सुगंधित पदार्थ होने चाहिए आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता में ग्रीष्म काल का जो वर्णन है कैसा होना चाहिए ग्रीष्म काल के में ऋतुचर्या हम्म? तो जैसे राजाओं की होती है ना नवाब की कि आपके कक्ष में से नालियों में पानी बह रहा हो पानी बहता रहता है ना जैसे महलों के अंदर बीच में से पानी आ रहा है और जा रहा है आजकल वाटर वाटर कूलर लगे हुए हैं या एसी लगे हैं उस समय में ऐसा होता था सुगंधित इत्र है पुष्प है चंदन है अंगराग लेप वगैरह हैं वो सारा करके तो सुखपूर्वक ग्रीष्म ऋतु व्यतीत होती है वो चीजें शीतल चीजें शीतल पेय हैं सुगंधित पेय हैं पीने के शरबत आदि हैं वो सब वहां पर लिखे हुए उस तरह से होना चाहिए ठीक है इनका कहना है कि जैसे वो चीजें हैं ऐसे भोजन में भी हो सकती है आप ही की बात को बोल रहा हूं मैं तो वो सब जगह भी लगा सकते हैं ऐसा भोजन में भी हो सकता है अगर ऐसा है अति है तो वो भोजन में भी बाधक है और अन्य विषयों में भी बाधक है ठीक लेकिन भोजन की मूलभूत भोजन है उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं इनके बिना तो हम रह सकते हैं शरबत नहीं पिएंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी हमारे को हाँ कोई रोगण हो उसके लिए कुछ शरबत पीना है औषधि का तो पीना पड़ेगा बहुत गर्मी है उसको इतनी गर्मी लग रही है कि वो जी रह ही नहीं सकता बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो उसके लिए तापमान कुछ कम किया जाए वो कर सकते हैं लेकिन सामान्यतः आवश्यकता नहीं पड़ती है वो अपनी अपनी सामर्थ्य से भी कम ज्यादा होता है लेकिन भोजन के साथ आप ये चीजें नहीं ले सकते आप अपने कमरे में एक भी पुष्प ना रखें चल सकता है साल भर दो साल आजीवन आप एक भी पुष्प ना रखें एक भी पुष्प को ना सूंघे ये चल सकता है लेकिन भोजन के साथ तो नहीं चल सकता हाँ भोजन में विविध जो बहुत ज्यादा अति होती है सुगंधित चीजें स्वादिष्ट चीजें उससे तो बच ही सकते हैं हम लेकिन एक सीमा ऐसी भी रहे कि हाँ इतने से हमारा ठीक ठीक हो जाता है तो तो आपका भोजन स्वादिष्ट बन ही रहा है पड़ता है दोनों में अंतर है अन्य विषयों को छोड़ेंगे जो कष्ट होता है वो अलग है उससे हम बीमार नहीं पड़ते इधर अगर सुख लेना बंद कर देंगे तो भोजन ही ठीक तरह नहीं होता है पाचन ही ठीक तरह नहीं होता है ये जो विधि है जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है वहां तो हम उन विषयों को छोड़ देते हैं तो कोई प्रक्रिया कौन सी बाधित होती है कुछ भी नहीं छोड़ दिया छोड़ दिया हमने उसमें कोई बाधा नहीं आती है यहां तो बाधा आएगी यहां विपरीत हो जाता है उसका इसलिए उसको तो देना चाहिए और फिर भी यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो कर सकते हैं कोई बात नहीं कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप भोजन के अंदर सुख लें आपको अगर ऐसा प्रतीत होता है तो नहीं ले ही मत ना

वो तो लोभ है उसमें गर्धा है तृष्णा है कि हम इस तरह से करें वो है तो वो बाधक है उसकी बात नहीं कर रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो उचित है उचित है वो अतिरिक्त है वो अविद्या युक्त है उसको छोड़ना छोड़ना योग्य है वो मैं सहमत हूं नहीं मन से ऐसा अनावश्यक बढ़ाने की बात नहीं है कि रुचि लेनी चाहिए का मतलब हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके लेंगे जो सहजता से भी तो ले सकते हैं ना उसको होगी होगी तो उसके लिए तो मना नहीं कर रहे ना जो है जो परमात्मा ने जो गंध आएगी वो आएगी जो रस आएगा जिसकी जैसी इंद्रिय उतना आ रहा है उतना आ रहा है बस जितना आ रहा है ठीक है नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है हैं प्रतिपक्ष भावना जो अविद्या युक्त सुख ले रहा है उसके प्रति प्रतिपक्ष भावना करेगा करनी चाहिए वो तो करके फिर बस सामान्य पे आ जाए देखेगा करना पड़ेगा कौन मना कर रहा है नहीं नहीं नहीं अंतर करो देखो जो आवश्यक है उतना छोड़ना नहीं है उसके प्रति प्रतिपक्ष भावना नहीं करनी है जो अतिरिक्त कर रखा है मानसिक अविद्याजन्य उसको छोड़ना है उसके प्रति प्रतिपक्ष भावना करनी है वो कहा जा रहा है जो उचित है उसमें करने की आवश्यकता नहीं है उधर करना पड़ रहा है इसलिए आप कहोगे यहां भी करना पड़ेगा उचित में वो बात नहीं है उसको कहा कहा मना कर रहे हैं आप वो बात उठा रहे हो जो कही नहीं गई है मैं स्पष्टीकरण भी कर चुका हूं फिर भी आप वही बात उठा रहे हो सुख की भावना बनी रहेगी लगाओ ना तो उस समय भी लगा सकते हो आप अन्य समय में भी प्रयास कर सकते हो निधिध्यासन कर सकते हो अन्य समय में भी तैयारी करके आ सकते हो भोजन के लिए बैठने से पहले से तैयारी करके आ सकते हो उसी समय संघर्ष करने की बात नहीं है नहीं करो ना मैं मना क्या कर रहा हूँ वो तो करना ही है भाई जो आप उस वहां लगा रहे हो जहां मैं नहीं लगाना चाह रहा हूँ और जहां लगना है वहां आप कह रहे हो हाँ, स्वीकार कर रहा हो ना वहां तो रोकना ही है ना वो अति तो वहां भी नहीं होनी चाहिए लेकिन जो उचित है वहां तो आपको रस लेना ही होगा आपको वो अगर अधिक लगता है तो वहां आप वहां भी प्रतिपक्ष भावना कर लो जितना उचित लगता है उतने पे मत करना अथवा जिस दिन स्थिति बन जाए उस दिन मेरे को बता देना आप कि भाई ये स्थिति है जहां भोजन का कोई रस नहीं ले रहे हैं कोई सुख नहीं ले रहे हैं और फिर भी स्वस्थ रह लेंगे ये भी ध्यान रखना बात तो यही है कि भोजन करते हुए ईश्वर प्रणिधान बनाया कि भाई भोजन में रस ना आ जाए कि कैसे बचे भोजन के रस से फिर भगवान का ध्यान करने लग जाओ और कुछ सोचने लग जाओ मुक्ति का सोचने लग जाओ तो भोजन में रस नहीं आएगा बस खा लेंगे अंदर चला जाएगा विषय अंतर क्यों ऐसा विषयांतर करेंगे यो सुख से बचने का प्रयास करेंगे तो बीमारी भी साथ में आएगी ये ध्यान रख लेना पाचन नहीं होगा पाचक रस नहीं निकलेंगे मैं केवल उतने स्वस्थ रहने के लिए जितना आवश्यक है उतने का ही समर्थन कर रहा हूं मेरी बात का अन्यथा अर्थ नहीं लेना वो अगर ऐसा ले रहे हो तो जितना आपको लग रहा है ये अन्यथा है उतना छोड़ देना आत्मा ठीक है वो पूरी प्रक्रिया है कि अपने को देख करके कैसे खाए तो तनमन तन्मय होकर के खाए तनमना भुंजी था ये जो वचन आया तनमना मतलब है कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें मन को रखते हुए खाए मन को इधर उधर नहीं खाए वो वो प्रसंग की बात है उपनिषद में भी आता है वो उपनिषद तो आध्यात्मिक है उनमें भोजन की बात क्यों होनी चाहिए थी अन्नम न निंदा तदव्रतम अन्न की निंदा मत करो ये व्रत है उसका आध्यात्मिक व्यक्ति का और हम ये सोच रहे हैं ये दुख वाला है हे है और ये बाधक है ये क्या कर रहे हैं उसके प्रति अन्न के प्रति मन में क्या कर रहे हैं खा तो रहे हैं कि भी जीवन उसके बिना तो चल नहीं सकता बच सकते नहीं है लेकिन खाते हुए क्या कर रहे हैं उसकी उपेक्षा कर रहे हैं त्याज्य समझ रहे हैं ये है वो है उल्टा सीधा सोच रहे हैं उसके बारे में इसमें ये दुख मिश्रित है ये तनमना भी नहीं होगा और अन्न की निंदा होगी वो नहीं करना है बस तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं ना वो कई बार हो चुकी बात होगी होगी ले लो ना तो जैसी हो रही है वैसी ले रहे हैं बस ठीक है उससे तो नहीं भाग रहे हैं ना कई बार उससे भी भागने का प्रयास होता है अब सब में भागने का प्रयास हो रहा है अंदर ही अंदर <laughs> सब सबको बैठना बहुत कठिन हो रहा है <laughs> वैराग्य की भावना हो गई है सबको कष्ट हो गया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ <laughs> देखो उनको कितना कष्ट हो रहा है अब इसको यही फिर ही रहने देते तो वैसे तो श्लोक का देखना था उसको फिर कल कल या आगे देखेंगे कल तो आपका व्याख्यान प्रशिक्षण का कार्यक्रम है रात्रि मंत्र पाठ करेंगे